उस शख्स के लिए उसके आगे से और उसके पीछे से बारी बारी आने वाले कई पहरेदार हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं बेशक अल्लाह ताला नहीं बदलता जो किसी कौम में है यहाँ तक कि वो बदल दें जो उनके दिलों में है और जब अल्लाह ताला किसी कौम से बुराई का इरादा करता है तो कोई उसको हटाने वाला नहीं होता और ना ही अल्लाह ताला के सिवा उनके लिए कोई मददगार है